और अगर ये लोग तुम्हें झुटला रहे हैं तो जो काफिर इनसे पहले थे उन्होंने भी रसूलों को झुटलाया था उनके पैगंबर उनके पास खुली-खुली निशानियां लेकर सहीफे लेकर और रोशनी फैलाने वाली किताब लेकर आए थे